सुनत विभीषण बचन राम के हर्ष गहे पद कृपा धाम के बानर भानु सकल हर सायण गही पद गुण विमल बखाने बहुरे विभीषण भवन सिद्धा मणि बसन विमान भरायो लय पुष्पक प्रभु आगे राखा कर कृपा तब तभा श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण गगन जाए बर सहुपट भूषण नभ पर जाए विभीषण तब हे बरस दिए मनी अम्बर अम्बरस जोई जोई मन भाव वहि सो लेहि मनमुख मेले राम श्री देहि परम अनुजसमे कौतुके कृपा निकेता हे सखा विभीषण सुनो विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मड़ियों और वस्त्रों को बरसा दिया जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे मुनि जय ध्यान पावही नेति कह वेद कृपा सिंधु सोय कपिन सन करत अनेक विनोद उमा जोग जप दान तप नाना ब्रह्मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करहीं तसे जस निस केवल प्रेम दिन को मुनि ध्यान में भी नहीं पाते जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं शिव जी कहते हैं हे उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं भालुकपिन पट भूषण पाए रघु नाना जिनस देखि सब सा पुनि पुनि हसत सा चित सबली पर किन्हीं दाया बोले मृदुल बचन रघुराया रे बल में रावण मारो तिलक विभीषण कह पुण्य सारो भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की फिर वे कोमल वचन बोले हे भाइयों तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का रात तिलक किया निज निज निज यब तुम सब गृहयबु सुमरे मोहि दर पहुजनि सुनत बचन प्रे मा जोरी पानी बो ले सब सादर प्रभु जोई कहू तुम्हें सब सोहाम हमरे होत बचन सुन मोहाम दिन जान कपे किए सना था तुम त्रैलोक इस था अब तुम सब अपने अपने घर जाओ मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले प्रभो आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है हे रघुनाथ जी आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहे मसक कहूँ खग पति हित करही देख राम रुख बानर रे छाम प्रेम मगन नहीं गृह कई छाम प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है प्रभु प्रेरित भाल सब राम रूप राखे हरस विषाद सहित प्रभु चले विनय विविध विधिभा कपिपति नील अङ्गद नल हनुमान, सहित विभीषण जूथप कपि बलवान् कहि न स कहि कछु प्रेम बस भरि भर बार सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेश परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले वानरराज सुग्रीव नील ऋक्षराज जाम्बवन अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं